Oh. धर्म प्रेमी सज्जनों पिछले दिनों जो विषय चल रहा था उसे उपसंहार की ओर लेके चलते हैं और उसके विषय में किन्हीं को कुछ पूछना हो कुछ कहना हो तो उसके लिए आज अवसर रहेगा विषय हमारा है प्रार्थना करने पर ईश्वर की ओर से जो सहायता मिलती है वो क्या क्या हो सकती है और वो किस रूप में हमें प्राप्त होती है उसकी प्राप्ति का तरीका विधि क्या होगी ईश्वर किस तरह से वो हमें सहायता प्रदान करता है प्रार्थना से जो निरभिमानिता उत्साह की आत्मा में आर्द्रता गुण ग्रहण में प्रीति इत्यादि जो दूसरी बातें हैं वो अपनी जगह अलग हैं जो सहायता प्राप्त होती है वो क्या हो और कैसे हो क्या होती है और कैसे हो सकती है ये विषय आपके सामने रखा गया था आप लोगों में से किन्हीं ने और इस पे विचार किया हो कोई बात कहना चाहते हो तो संकेत करेंगे मेरे पास प्रश्न आया है ईश्वर की जो सहायता कोष्ठक में है मुफ्त मिलती है यदि उस पर कोई प्रमाण हो तो बताइए इनकी पृष्ठभूमि यह है प्रश्न की कि हम ये क्यों ना मान लें जो ईश्वर की सहायता मिल, मिलती है वो भी प्रार्थना के बाद जो सहायता मिलती है पूर्ण पुरुषार्थ के बाद की गई प्रार्थना से जो सहायता मिलती है वो हमारे कर्मों के अनुसार ही मिले यदि कर्मों के अनुसार नहीं भी मिली है ईश्वर ने स्वयं सहायता की है या किसी के माध्यम से सहायता करवाई है प्रेरणा दी है किसी को और दूसरे ने उस प्रेरणा से प्रेरित होकर के स्वतंत्रता से सहायता की है तो उस सहायता को प्राप्त करने से उतना कर्माशय हमारा कम हो जाए क्योंकि हमने कुछ पाया है तो हमारा कर्माशय भी कम होगा होना चाहिए ऐसा माना जाए तो ज्यादा अच्छा है ये जो मुफ्त में मिलना है बिना कर्माशय के क्षय के हमें सहायता मिली और उससे हमारा पुण्य कर्माशय कुछ भी कम नहीं हुआ कर्माशय निरपेक्ष ये सहायता हमें प्राप्त हुई तो ऐसा मानने से ईश्वर की न्यायकारिता खंडित होती है और यथा योग्य व्यवहार नहीं होता कर्म के अनुसार व्यवहार नहीं होता इत्यादि कुछ बातें इसमें आएंगी यथास्थान बैठिए तो उसके लिए ये प्रमाण पूछ रहे हैं तो सबसे मुख्य और सरल प्रत्यक्ष प्रमाण साक्षात प्रमाण हमारे सामने वही वचन है जो महर्षि का है जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं सहायता शब्द कहा प्रयोग किया जाता है किसी कर्मचारी ने काम किया और अब वो जो वेतन ले रहा है उसको सहायता के रूप में नहीं कहा जाता कर्म के अनुसार जो चीज मिलती है उसे सहायता नहीं कहा जाता तो ईश्वर की ओर से जो सहायता मिलना ये कथन महर्षि का जो मिल रहा है यही अपने आप में पर्याप्त है ये बताने के लिए कि ये सहायता कर्म निरपेक्ष है सहायता कर्म निरपेक्ष ही होगी और कुछ बातें पहले मैंने रखी थी इसी प्रमाण के आधार पर कि यदि इसको भी प्रार्थना को भी हम कर्म माने उससे कर्माशय बने और उसका फल के रूप में ये सहायता हमें मिले ऐसा माना जाए तो ये तो हमारे पुरुषार्थ के अंतर्गत ही आ जाएगा पूर्ण पुरुषार्थ के बाद फिर ये जो सहायता का मिलना है प्रार्थना करके ये कहने की आवश्यकता नहीं थी फिर ये कह सकते थे कि पूर्ण पुरुषार्थ करें और प्रार्थना रूप उद्यम रूप पुरुषार्थ भी करे और प्रार्थना रूप पुरुषार्थ भी करे उससे भी कर्माशय बनता है इत्यादि कुछ कथन होते हैं तो ये प्रमाण महर्षि का है इसी से ये सिद्ध होता है कि ये सहायता कर्माशय निरपेक्ष है और इस सहायता को प्राप्त करने से हमारा कर्माशय क्षीण नहीं होना चाहिए और ये विषय एक स्पष्ट अब हुआ है और कहीं पढ़ते हुए वेद मंत्र दर्शन उपनिषद हो सकता है कहीं इसकी पुष्टि में और भी हमें प्रमाण साथ में दृष्टि में आए तो यहां से भी ये बात निकल रही है यहां से भी निकल रही है ये अभी उसमें समय लगेगा अथवा और किन्हीं की स्मृति में कोई प्रमाण शब्द प्रमाण आया हो तो शब्द प्रमाण शब्द प्रमाण बतमनी जी रुक्षी और कोई प्रमाण देना चाहें इस विषय में हाँ आप कुछ कहना चाहते हैं ये जो प्रमाण है इस पर तो शब्द प्रमाण के आधार पर हमें ये मानना चाहिए अभी तक तो यही ज्ञान काम कर रहा है और फिर इन्होंने लिखा कि दो तीन उदाहरण आदि देंगे तो और अधिक स्पष्ट होगा किस चीज के उदाहरण चाहते हैं किस चीज के उदाहरण चाहते हैं हैं ईश्वर की सहायता के ये तो बोल नहीं रहे हैं आप बोल रहे हो प्रश्न इनका है रविशंकर जी का आपका क्या अभिप्राय है कैसे उदाहरण चाहिए आपको ऐसे जीवन में बहुत सी घटनाएं घटती रहती हैं आपके भी जीवन में हो सकती हैं जहां हमने प्रार्थना की कामना नहीं पूर्ण पुरुषार्थ के बाद में अब मेरे से नहीं हो रहा है इससे आगे मैं अब नहीं कर सकता और उसको ईश्वर पर छोड़ दिया प्रार्थना करके ईश्वर पर छोड़ दिया और पूर्ण पुरुषार्थ चूंकि हो चुका है इसलिए अब और आगे कोई पुरुषार्थ कर नहीं रहे हैं वहां ठीक है तब भी वो कार्य सिद्ध होता हुआ दिखने लगे ये कार्य देखो अब सिद्ध हो रहा है मेरे को जो करना था वो तो कर चुका मैं अब समाप्त हो गया मेरा पुरुषार्थ ऐसी कुछ स्थितियां आगे भी सामर्थ्य है कर सकते हैं कुछ दिनों बाद में कुछ महीनों बाद में लेकिन एक स्तर पे कहीं अब मेरे बस की बात नहीं रही है और फिर अब सहायता मिलती है ऐसे उदाहरण मिल सकते हैं हालांकि बहुत सी ऐसी बातें हैं जो औरों को भी अनुभव में आती हैं उसको ईश्वर की सहायता ही कहें ये तो फिर भी प्रश्नवाचक हो सकता है आप लोग प्रश्न उठा सकते हो और मैं कुछ बातें आपके सामने रखता हूं ऐसी छोटी छोटी बातें जो हैं कई बार कोई महत्वपूर्ण विषय होता है यहां का भी लगा लीजिए कोई वेद मंत्र के ऊपर व्याख्या करनी है आर्यभि विनय की चल रही है ये विषय है तो कई बार बहुत से शब्द होते हैं और कुछ बात उलझी भी होती है पता नहीं लग रही होती है तो किसी पुस्तक को देखते हुए ऐसा पृष्ठ खुल जाता है और ये आपने भी मेरे को बताया था कि मेरे साथ भी हुआ ऋषि उद्यान में आपने बिल्कुल वो बात जिसको हम ढूंढ रहे थे और ये एकदम से मिल जाती है हम प्रयत्नशील थे हमें ये नहीं पता था कि ये यहां पर है लेकिन ऐसा पृष्ठ खुलता है वो अब हमने कोई गणना करके थोड़ा तो खोला था वो पृष्ठ लेकिन ऐसा पृष्ठ खुलता है ऐसा मेरे साथ पचासों बार हो चुका है होता ही रहता है होता ही रहता है ऐसी बात आती है पकड़ में कि वो एकदम से समाधान हो जाता है जबकि मेरे को पता नहीं होता है कि ये समाधान मुझे देना है भले ही पढ़ रखा हो तो भी याद नहीं रहता है ये बात चतुर्वेद भी आमने सामने लिखते हुए बड़ी लंबी श्रृंखला चली परोपकारी में बहुत बहुत बार ऐसी बात यूं मिलती चली जाती है यूं लगता है कि जैसे मेरा तो सामर्थ्य ही नहीं था लेकिन ये बातें मिल गई मेरे को ठीक है प्रयत्न चल रहा है पुस्तकों में देख रहे हैं कर रहे हैं लेकिन ऐसी ऐसी बातें निकल करके आ जाती हैं ऐसी ऐसी सोचती हैं जो मैंने पहले कभी सोची नहीं मैंने उसके लिए विशेष प्रयत्न भी नहीं किया लेकिन ये यूं देखने करने का प्रयत्न चल रहा है भाई ठीक है इतना अध्ययन कर लिया ये कर लिया लेकिन ऐसे आ जाती है पचासों बार ऐसा होता ही रहता है होता ही रहता है कुछ बातें ऐसी देखने में आ जाती हैं जो उस समय महत्वपूर्ण नहीं लगती लेकिन उस विषय पर आगे चलते चलते वो समस्या आती है जिसका समाधान पहले से हो जाता है वैसे ही प्रसंगवशात तो इसको दो भागों में बांट सकते हैं आप मन में ये प्रार्थना बनी हुई है कि मैं ये विषय जानू इसको ठीक तरह से जानू इसे कामना वाली प्रार्थना भी कह सकते हैं और वो कर्माशय वशात आ जाती है कर्माशय वशात सहायता मिलती है वो भी मान सकते हैं और कर्माशय रहित प्रार्थना भी मान सकते हैं लेकिन होता यह बड़ा विचित्र है समाधान जो सूझता है अचानक जो चीज आती है वो न्याय दर्शन वात्स्यन भाष्य में आगे एक बात आएगी जहां प्रातिभ ज्ञान के नाम से प्रसंग आएगा जो अचानक हमारे को सूझ जाती हैं बातें अचानक किसी बड़ी समस्या का समाधान वैज्ञानिकों को कोई बात अचानक सोच जाती है ऐसे ही कर कुछ रहे थे प्रयोजन कुछ था ढूंढ कुछ रहे थे लेकिन अचानक एक बात सोच जाती है विशिष्ट ज्ञान विशिष्ट बोध विशिष्ट समाधान जो अचानक आता है उसे प्रातिक ज्ञान कहते हैं और उसे वहां कर्माशय के कारण से माना गया है ऐसे कर्म हैं जो किसी प्रसंग में उसको ऐसा समाधान दे देते हैं जिससे उसके जीवन में बहुत परिवर्तन हो जाता है उसको धन मिल जाता है उसको यश मिल जाता है कुछ और मिल जाता है ये चीजें बहुतों के साथ में होती रहती हैं हम प्रयत्न करते रहते हैं समाधान नहीं आता किसी किसी को आता ही नहीं है करता रहता है करता रहता है किसी किसी को अचानक एकदम आ जाता है इत्यादि जो बातें हैं यानी वर्तमान में जो हमें कारण दिखाई दे रहे हैं वो हमें दिखाई नहीं वो उसके लिए संतोषजनक कारण नहीं होते हैं उसके अतिरिक्त ये चीजें हो जाती हैं तो उसको दो भागों में बांट सकते हैं एक तो हमारा कर्माशय ऐसा था अच्छा कर्माशय जिसके कारण से हमारी बुद्धि की स्थिति ऐसी सात्विक बनी एकाग्र बनी और हमारा निर्णय आ गया ये कर्माशय के कारण वो भी हो सकता है दूसरा हमने प्रार्थना की पूर्ण पुरुषार्थ के बाद में अब हमारा कुछ बस नहीं चल रहा है तो ईश्वर की तरफ से सहायता आई इन दोनों में भेद करना अपने आप में फिर कठिन बात है कि हम कैसे पता लगाएं ये हमारे कर्माशय के कारण आया या परमात्मा की प्रेरणा से आया है परमात्मा की सहायता है कर्म निरपेक्ष ये निर्णय करना फिर बहुत कठिन है लेकिन इस तरह की बातें होती रहती हैं दूसरा कोई इच्छा हो प्रार्थना हो कुछ साधक बार बार प्रार्थना करते रहते हैं बहुत प्रार्थना करते हैं मंत्र बोलते हैं वैसे भी प्रार्थना करते रहते हैं बहुत प्रार्थना करते हैं और कुछ साधक होते हैं वो प्रार्थना बहुत कम करते हैं बस अपना जो करना है उसमें लगे रहते हैं ईश्वर की आज्ञा को पालने में सामान्य इच्छा बनी है मुझे ये ये चीजें होनी चाहिए लेकिन उसके लिए बार बार प्रार्थना करना बार बार प्रार्थना करना ये नहीं करते उनकी दृष्टि कुछ ये रहती है कि मेरी जो कामना है उसको परमात्मा जान ही रहा है जानता ही है और मैं प्रयत्नशील हूं लेकिन कभी कभी उनके मन में प्रार्थना निकलती है उठती है कभी कभी उनकी प्रार्थना वो सरल प्रार्थना नहीं होती इतनी सस्ती प्रार्थना नहीं होती कि वो निकलती रहती है कभी भी बोलते रहो बोलते रहो ईश्वर से बार बार प्रार्थना करते रहो मुझे ये चाहिए मुझे ये चाहिए मेरी समाधि लगा दो मेरे को मुक्ति दे दो बार बार बार बार वो प्रार्थना ऐसे साधकों की तब निकलती है जब वो कर करके थक लेते हैं अपनी तरफ से वो प्रयत्नशील है अब कुछ सोच नहीं रहा है वो प्रार्थना निकलती है अपने आप वो ये प्रार्थना है जो महर्षि कहना चाहते हैं अपने पूर्ण पुरुषार्थ के बाद सामर्थ्य के बाद प्रार्थना गंभीरता से निकलती ही तब है जब हम मेहनत करते करते थक लेते हैं हमारी सामर्थ्य चुप सी जाती है हमें कोई रास्ता नहीं दिखता उस समय हम अनन्य रूप से परमात्मा को पुकारते हैं केवल परमात्मा को और कोई सहारा दिखाई नहीं देता है उसको अनन्य रूप से निरपेक्ष रूप से मात्र परमात्मा से ये प्रार्थना निकलती है परमात्मा के लिए प्रार्थना निकलती है वो प्रार्थना है मेरा जैसा अनुभव है मैं उस तरह से अधिक प्रार्थनाएं नहीं करता हूं उपासना में और मैं बार बार प्रार्थना करना वो मेरा स्वभाव नहीं है मैं नहीं करता हूं लेकिन कभी कभी ऐसी प्रार्थनाएं आती हैं कुछ समस्या होती है इस प्रार्थना निकलती है नहीं तो परमात्मा से मैं प्रार्थना नहीं करता हूं जब वो प्रार्थना निकलती है मेरा जैसा अनुभव रहा वो प्रार्थना पूरी हो जाती है प्रार्थना की एक दो बार की बस उसको भी बहुत दोहराया नहीं जाता है बार बार बार बार बार बार एक दिन दो दिन एक बस प्रार्थना निकली गहराई से निकली और परमात्मा के अलावा कोई सहायक वहां नहीं दिख रहा है ऐसी प्रार्थनाएं किसी भी ढंग से आगे जो हम कर रहे हैं उससे वो सरलता से हल हो जाती है समाधान हो जाते हैं या दूसरे के माध्यम से हो जाते हैं पूरी हो जाती है ऐसा और भी साधक अनुभव करते होंगे कम अधिक सब तरह की बातें हो सकती हैं इसमें सावधानी अवश्य रखनी चाहिए जैसा कि मैंने पहले भी बात रखी कि कोई भी सहायता कभी भी आ गई और उसको हर किसी को हम परमात्मा पे डालने लग जाएं ऐसा नहीं प्रार्थना के भी स्तर होते हैं अलग अलग एक किए जा रहा है प्रार्थना बार बार बार बार प्रतिदिन कर रहा है और बहुत से गंभीरता से भी करते हैं उपासना के समय अश्रुपात भी होता है और प्रार्थना भी करते हैं निवेदन करते हैं बार बार बार बार ऐसे भी साधक होते हैं बहुत प्रार्थना करते हैं आप स्वयं अनुभव करेंगे लौकिक स्तर पर भी एक तो हम वैसे ही प्रार्थना करते हैं किसी को भी मेरे को सहयोग कर दो जैसे कि भिक्षुक लोग ऐसे ही भिकारी कहें भिक्षुक भी नहीं कुछ और कार्य नहीं करते और मांगते रहते हैं मांगते रहते हैं और एक आपके हमारे जैसे व्यक्ति यानी हमारे को भी छोड़ दें जो गृहस्थी हैं जो मांगना जिनको पसंद ही नहीं आता है लेकिन कोई स्थिति ऐसी बनी कि दूसरे से सहायता मांगनी पड़ रही है उनको चाहता नहीं है वो मांगना प्रार्थना नहीं करता है वो सहायता नहीं चाहता है लेकिन कभी करनी पड़ रही है तब उसमें क्या स्थिति रहती है मन की पूरी तरह से असहाय होकर के असहायता की अनुभूति रखते हुए जब परमात्मा से सहायता की प्रार्थना निकलती है उसका स्तर बिल्कुल अलग होगा और उसके परिणाम भी अलग होंगे तो ऐसा बहुत स्थलों पे होता रहता है इसलिए ये भी पक्ष और शब्द प्रमाण भी हमारे को मिल रहा है इसलिए हमें ये मानना होता है कि ईश्वर की सहायता भी होती है प्रार्थना के प्रार्थना के बाद में और वो सहायता सहायता ही है उसको सहायता को सहायता ही मानेंगे वो हमारी मेहनत का फल नहीं है वो हमारे कर्म का फल नहीं है वो कर्म निरपेक्ष सहायता परमात्मा की मिलती है जैसे माता पिता बच्चे को जो देते हैं वो सदा उसके कर्म के अनुसार ही नहीं देते कर्म के अनुसार यथा योग्य व्यवहार भी करते हैं और माता पिता अन्यायपूर्वक भी बच्चों को राग आदि के कारण से द्वेष के कारण से न्यूनाधिक देते हैं उन सबको की तो संभावना परमात्मा में नहीं है लेकिन माता पिता जब कृपा करते हैं बच्चों पे उस तरह से जब परमात्मा हमारे पे कृपा करता है योग्यता के अनुसार तो करता है लेकिन वो कर्माशय निरपेक्ष होता है एक है कि हमारा कर्माशय है अभी भले ही मैं दुष्ट हूं मेरा कर्माशय है उसका फल देना ही होगा परमात्मा को अभी मैं चाहे भले दुष्ट हूं वो कभी तो कष्ट देगा ही मैंने कभी अच्छा किया था एक है कर्माशय नहीं है लेकिन अभी अच्छा कर रहा हूं कर्माशय के अनुसार जो मिलता है कर्मफल वो अपनी जगह पे है लेकिन सामने वाले की पात्रता को देख करके योग्यता को देख करके सज्जनता को देख करके आर्यत्व को देख करके वो किस तरह जा रहा है किस दिशा में जा रहा है हो सकता है पहले बहुत बुरे कर्म हो उसके बहुत बुरे कर्म हो पुण्य कर्म बहुत कम हो लेकिन अब जीवन बदल चुका है वो अंदर से बदल गया है एकदम बोध हो गया है गलत रास्ता छोड़ के अच्छे रास्ते पर आ गया है माता पिता भी ऐसे बच्चे के प्रति जो तो पहले शराब पीता जुआ खेलता है और दुर्गुण है बात नहीं मानता है मेहनत नहीं करता है और उसलिए उसको सहायता भी रोक रखी है लेकिन अगर वो बदल जाए रास्ता ठीक आ जाए तो अच्छा चलने वाले को इस रूप में सहायता और वो फिर मांग रहा है सहायता मांग रहा है कि नहीं मेरे को दो सहायता मेरे को नशे की लत लग गई है वो छोड़ नहीं रहा था पहले मना करने पर भी नहीं मानता था नशा करता ही रहता था करता ही रहता फंस गया नशे में लत लग गई है और अब वो छोड़ना चाह रहा है छोड़ नहीं पा रहा है आदत है परेशान हो रहा है लेकिन सहायता मांग रहा है वो दूसरे से अभी कोई वो अच्छा बन नहीं गया है उससे अच्छे दूसरे हैं जो कभी पीते ही नहीं है शराब आदि या अन्य व्यसनों में व्यस्त ग्रस्त नहीं है ये तो अभी ग्रस्त था दुर्गुणों से ग्रस्त था और अब उससे निकलना चाहता है पूरी इच्छा से और प्रयत्न कर रहा है लेकिन निकल नहीं पा रहा है त्रुटियां आज भी हो रही हैं गलतियां आज भी कर रहा है लेकिन प्रार्थना निकल रही है अच्छी काम के लिए निकलने के लिए आपके मन में क्या भाव आएगा एक धार्मिक व्यक्ति के एक सज्जन व्यक्ति के मन में क्या भाव आएगा कि नहीं ये दुष्ट है मैं इसकी सहायता नहीं करूंगा जब ये सज्जन बन जाएगा तब सहायता करूंगा ऐसा आप करेंगे अथवा आप ये करेंगे कि नहीं इसमें सच्ची लगन हो गई है अब ये वास्तव में इस दोष से निकलना चाहता है तड़प रहा है अब ये इस तरफ नहीं जाना चाह रहा फंसा हुआ है लेकिन निकलना चाह रहा है इसकी सहायता करनी चाहिए आपके मन में क्या भाव आएगा सात्विकता से बिना स्वार्थ के क्या भाव निकलता है यदि आप योग्यता के आधार पर देखें कर्माशय के आधार पर देखें तो नहीं है उसका और दूसरी तरफ एक दूसरा सज्जन व्यक्ति है वो भी हमसे कोई सहायता मांग रहा है आप किसकी सहायता पहले करेंगे एक तरफ योग्य व्यक्ति है और उसको सहायता नहीं भी मिली तो वो चल रहा है अभी यद्यपि परमात्मा तो सबकी सहायता कर सकता है तो इतनी सामर्थ्य है लेकिन हम अपनी स्थिति से देखें कि दिनहीन है और उस स्थिति में वो निकलने का प्रयास कर रहा है उसकी पहले सहायता करेंगे या उसकी करेंगे इसकी करेंगे उसके प्रति भाव आता है और ये कोई हम अन्याय नहीं करते ऐसी सहायता करके न उससे हमें अपेक्षा है कि कुछ मिले हमारे को जो भी अच्छा बनना चाहता है और पूर्ण पुरुषार्थ कर रहा है भले ही निचले स्तर पे है पुकार निकलती है तो किसी भी सज्जन व्यक्ति का हृदय द्रवित होगा होता है वो सहायता के लिए बढ़ेगा करुणा जिसके मन में है वो उसको करेगा परमात्मा हमारे से कई गुना अधिक करुणामय है करुणा से पिघलता है करुणात्र है उसका न्याय है वो एक कठोर हमें दिखता है बिल्कुल अटल न्याय है उसका वो होते हुए भी वो हमारे से अधिक दयालु है हमारे से अधिक करुणा वाला है ऐसी स्थिति में एक व्यक्ति पूर्ण पुरुषार्थ कर कर रहा है और ऊंचा उठना चाह रहा है तो सहायता प्रदान करेगा ये वो स्थिति है जो स्वामी जी ने लिखी अपने पूर्ण पुरुषार्थ के बाद में जब प्रार्थना की जाती है सोमदेव जी ने भी जो बात रखी कई जगह प्रार्थना होती है उसमें दोषों से छूटने की भी जो प्रार्थना होती है वहां भी की जाती है अपने पूर्ण पुरुषार्थ के बाद में प्रार्थना की जाती है अब यहां जो ईश्वर की सहायता मिलेगी उससे कोई हमारा कर्माशय क्षीण नहीं होगा इस रूप में इन स्थलों पे पूर्ण पुरुषार्थ के बाद में जो सहायता मिलती है तो ऐसी ऐसी स्थितियां हम सोच सकते हैं ऐसी मिलती हैं हमें जहां सहायता वाली बात घटती हुई हमें दिखाई देगी ये कुछ उदाहरण आपके सामने और कोई सद सद व्रत मुनि जी कि इस योग का जो युवा वैज्ञानिक मानदंड योग का उसने एक संस्मरण लिखा है सिर्फ उसकी एक विशेष दिन जिसके कारण से उसको नोबेल प्राइज मिला E into two M C square energy इसका मात्रा जब कोई भी वस्तु मास होता है इसको प्रकाश का वर्ग से गुणा किया जाए कि मात्रा में एनर्जी प्राप्त होती है लोगों ने पूछा वो थियोरिकल साइंटिस्ट का प्रयोग नहीं करता था क्योंकि टेबल पर उसका मस्तिष्क से करता था उसने कहा एक दिन में सो रहा था अचानक मुझे प्रेरणा हुई मैं नहीं जानता कि स्वप्न ले रहा था कि जागृत अवस्था में था लेकिन ये होना मुझे स्क्वायर और मैंने लिख दिया मुझे नहीं पता कि ये लोगों के आधार पर क्या दुनिया का इस तरह सबसे ऊंचा ये उसने कहा कि ये स्वीकार किया तो ये जो एक विज्ञान का सूत्र है E is equal to M C square ये कैसे खोजा कैसे आ गया किसी प्रयोगों से नहीं आया वो प्रयोगों से नहीं निकल करके आया इसको चाहे तो हम प्रातिप ज्ञान कह सकते हैं कर्माशय वशात अथवा उनकी कुछ प्रार्थना भी नहीं है वैसे तो इसमें वो स्वयं निकल करके आए अच्छा, तो तो ठीक है ये संशोधन कर रहे हैं कि नोबल पुरस्कार आइंस्टाइन को E is equal to M C square इस पर नहीं मिला था तो दूसरे बिंदु पर नोबल पुरस्कार मिला था इतना समझिए उनको नोबल पुरस्कार मिला था और is equal to M C square को भी उन्होंने खोजा था ऐसे इन्होंने एक सूचना संशोधन किया है उसका ठीक है तो ऐसे तो ऐसी बहुत बातें और आप में से भी कुछ बोलने लग जाएंगे तो मुझे लगता है बीसियों घटनाएं ऐसी आएंगी आप लोगों को भी अपनी अपनी कुछ होंगी इस तरह की घटनाएं तो और किन्हीं को कुछ पूछना हो कहना हो तो संक्षेप से श्रीवास्तव जी क्योंकि ईश्वर हमें अपना समझता है क्योंकि वो दीनों की सहायता करने के स्वभाव वाला है क्योंकि वह हमारी उन्नति करना चाहता है उसने उन्नति के लिए ही हमें इस संसार में भेजा है और उसे पता है कि ये जीव अल्प सामर्थ्य वाला है ये पूर्ण अपनी सामर्थ्य से ये चीजें नहीं पा सकता और धर्म को वो बढ़ाता है धर्म को अच्छी चीजों को बढ़ाना उसका स्वभाव है और बुरी चीजों को अधर्म को क्षीण करना उसका स्वभाव है वो भी वो काम करता है तो अच्छे कार्य में अच्छे कार्य में सर्वत्र परमात्मा की प्रत्यक्ष परोक्ष सहायता तो रहती ही है परंपरा से कुछ सहायता वैसे ही विद्यमान है कुछ व्यवस्थाएं ऐसी बनी हुई है कि अच्छी सहायता मिलती है और ये जो प्रार्थना के बाद सहायता है ये उनसे भी कुछ अतिरिक्त सहायता हम मान सकते तो हैं यदि पूर्ण पुरुषार्थ के बाद में अपनी सामर्थ्य के उपरांत वो की जा रही है वो प्रार्थना और ठीक कार्य के लिए होगी उसकी उसके लिए सहायता यथा योग्य हमें मिलेगी मिलनी चाहिए तो इस विषय को इस विषय को यहीं रहने देते हैं अब आगे और दूसरा विषय लेंगे शास्त्रीय प्रमाण कोई देना चाहते हैं शास्त्रीय प्रमाण घटना नहीं सुनाना आपने शास्त्रीय प्रमाण क्षमा पूर्वक कहूंगा शास्त्रीय प्रमाण दीजिए संभावना बताइए शास्त्रीय प्रमाण बताइए अनुग्रह से मुक्ति का काल और उसकी मात्रा इतनी अधिक है कि वो मनुष्य के सामर्थ्य के बाहर की बात है और परमेश्वर कृपा करके विशेष व्यक्तियों को विशेष की भावना अवसर है परमेश्वर की सहायता ठीक है धन्यवाद यद्यपि इसमें पक्ष भी हैं कुछ लोग बहुत कहते हुए भी मिलते हैं कि मुक्ति की प्राप्ति निष्काम कर्मों से होती है और स्वामी जी ने निष्काम कर्मों का कर्माशय भी उस दिन बोला था यद्यपि मैंने तो पहली बार सुना वो उन्होंने मेरे नाम से भी कहा था लेकिन मैंने पहली बार सुना कि निष्काम कर्मों का भी कर्माशय होता है पर उन्होंने अपना परिचय देते हुए उस दिन जो बात बोली थी तो योग दर्शन और उस सबसे सकाम कर्मों का कर्माशय होता है और कुछ लोग ये भी मानते हैं जैसा स्वामी जी ने भी कहा कि निष्काम कर्मों के कारण से मुक्ति मिलती है जो कि वो लोग क्या मानते हैं कि परमात्मा न्यायकारी है और वो कर्म के अनुरूप ही फल देता है ऐसे ही नहीं दे देता वो इस विषय में काफी दृढ़ कठोर है वो थोड़ा ढीले नहीं है वो सहायता वाली बात में जैसे कि ये कर्म जो देगा वो कर्म के अनुसार ही देगा तो मुक्ति भी एक फल है तो वो भी कर्म के अनुसार ही होगा सकाम कर्मों का फल तो मुक्ति हो नहीं सकता तो जो निष्काम कर्म होते हैं जो कि मुक्ति की प्राप्ति के लिए ही किए जाते हैं उन्हें ही निष्काम कर्म कहते हैं तो मुक्ति किन कर्मों का फल है निष्काम कर्मों का फल है इस बात को रखने वाले भी बहुत लोग हैं आपकी इस बात के विपरीत पक्ष रख रहा हूं मैं उनका वैसे मैं आपकी बात का समर्थक हूं लेकिन मैंने एक बात रखी और ये भी अपने आप में एक बहुत विचार का बिंदु है कि मुक्ति निष्काम कर्मों का फल है अथवा अन्य किसी चीज के कारण से अथवा केवल कृपा है परमात्मा की शुद्ध कृपा है कर्म के ऊपर आधारित नहीं है वो ये फिर अपने आप में एक अच्छा विचार का विमर्श का विषय है तो आज का विषय इतना ही रखते हैं